सुख और दुख के कारणों को दूर करने की के इच्छुक ना रहे अर्थात वैराग्य की स्थिति वैराग्य की स्थिति आती है उसमें एक स्थिति होती है सुख और सुख साधनों में राग की स्थिति और सुख और सुख साधनों में राग की स्थिति हटने पर दुख और दुख साधनों में द्वेष हटता है अब क्या समझ में आया नहीं आया समझ में के साधनों से जब राग की निवृत्ति होती है तो हाँ। सुख और दुख के साधनों से द्वेष की निवृत्ति हो जाती है निवृत्ति होती है साधक जी आया समझ में राग के साथ द्वेष बना रहता है द्वेष के साथ राग अब सत्याग्रही व्यक्ति तीन काल में जो सत्य को जानना चाहता है वो किसी स्थिति बीच वाली स्थिति पर रुक के खड़ा नहीं होता वो कहता मैं अंतिम स्थिति को प्राप्त करूंगा जो करनी चाहिए अंतिम सत्य जो तीन काल में है मैं उसको स्वीकार करूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो वह ऐसा व्यक्ति ही अंतिम परिणाम निकालता है ईश्वर जीव प्रकृति का स्वरूप क्या है और उनका उपयोग कैसे किया जाए और वो समस्त दुखों से छूट के नित्य सुख्यान का अनुभव करता है आप तो अपनी छोटी छोटी बातों मोल दे रहते हो छोटे छोटे विचार मोल दे रहते हैं थोड़े थोड़े सुख और सुख साधन मोल दे रहते हैं थोड़े बहुत मान अपमान में उलझे रहते हैं कोई न कोई ऐसी उलझन उठाए रहते हैं ऐसा सोच ही नहीं सकता व्यक्ति जैसे मनोवर्णन किया ऐसा है या नहीं लगभग ऐसा ही रहता तो विचारने वाला व्यक्ति जो है वो इतनी गहराई में जाता है कि जब तक उसका अंतिम छोड़ने आ जाए वो छोड़ता ही नहीं उसके साथ विचारता रहता आगे चलता जाता है आगे चलता जाता है अंतिम सत्य सिद्ध होना एक स्थिति और अंतिम सत्य को स्थायी रूप में जमाए रखना ये दूसरी स्थिति है सत्य की गवेषणा करना और कर डालना फिर इतने पर भी उसको स्थायी बनाए रखना बहुत प्रशंसा है गवेषणा कर ली मान के चलिए एक वस्तु तत्व की वो उसी स्थिति में वो मन में बनाया रखे उसके विपरीत नए स्थिति आने दे ये कोई थोड़े से परिश्रम से दूर नहीं होने वाला ये स्थिति थोड़े से काल में नहीं जम पाती जैसे आप ईश्वर को सर्वव्यापक सच्चिदानंद सर्वरक्षक मानते हैं और विचार भी कर लेते हैं परंतु वो व्यवहार में वो ईश्वर से संबद्ध जो विचारधारा बनी नहीं रहती उखड़ जाती है फिर देखता है तो कहता मेरे मन में तो संदेह हो गया पहले जो निश्चयात्मक ज्ञान हुआ था वो संशयात्मक में बदल गया ऐसा वो देखता है जैसा संसार चल रहा है वर्तमान में ऐसे ही उसके साथ उसी ढंग से हम चलें उसी के साथ संबद्ध हो जाएं उसी ढंग से सोचें वही कार्य करें एक स्थिति और एक धारा है कि संसार जिस किसी भी स्थिति में क्यों न हो हमको तो वही स्थिति अपनानी है जो तीन काल में सत्य है संसार चाहे अनुकूल हो प्रतिकूल हो हमको बुरा माने अच्छा माने हमको दुख दे सुख दे हम इससे रुकने वाले नहीं ये दूसरी विचारधारा ये दूसरी विचारधारा ही ऋषियों की है यही शैली है उनकी कभी आत्मनिरीक्षण करते हुए दिन में कि जैसे विवरण दिया जाता है ईश्वर के विषय में ऐसा विवरण जो हम ईश्वर के साथ संबद्ध रहे दिन में और ईश्वर का प्रेम बना रहे और ईश्वर के प्रेम को सुख और सुख साधन दुख और दुख के साधन न डेगा सके ऐसा देखो प्रयोग होता है समझ में तो आ गई बात जैसा विवरण देते हैं जैसा आप वेद मंत्रों की व्याख्या पढ़ते हैं आर्य विभिन्न की ईश्वर के प्रति पढ़ते हैं ना उनको याद रहती होगी वो विवरण होता है हम भी बोलते हैं जो उसकी व्याख्या करते हैं उसके अनुरूप क्या हम ईश्वर के प्रति प्यार बनाए रखते हैं क्या ईश्वर के साथ हम आबद्ध रहते हैं दिन में या ईश्वर को भूल जाते हैं लौकिक चीजों के साथ संबद्ध हो जाता व्यक्ति कैसी स्थिति रहती हाँ जी पढ़ते समय एवं कार्य करते समय असफलता मिलती है वरना भ्रमण काल में भोजन काल में एकांत ऐसे कुछ न कर रहे हो उस, उस अवस्था में सफलता मिलती है हम्म। और आपने मान लो इतना ध्यान दिया उस समय तो आपको सफलता मिली आप मुझे कितने उस समय भी विफल ही रहते होंगे या नहीं रहते क्यों जी आप अपना बताओ रहते हैं उस समय भी आप ईश्वर से संबद्ध नहीं रहते होंगे आप इस परिणाम पर पहुंचने का प्रयत्न करें ईश्वर के और हमारे अनादि अनंत कुछ संबंध हैं उनको अच्छे प्रकार से समझें और उन संबंधों को बनाया रखने का प्रयत्न करें जैसे आप पढ़ते हैं सुनते हैं ईश्वर हमारी माता है हम ईश्वर के पुत्र हैं एक संबंध है और ये अनादि संबंध है और ये अनंत काल में रहेगा अनंत काल तक रहने वाला संबंध है टूटने वाला नहीं है अब हम कहेंगे ईश्वर हमारा पिता है हम उसके पुत्र हैं ये अनादि संबंध है और अनंत काल में ऐसा कैसा रहेगा फिर हम पहुंचेंगे ईश्वर हमारा गुरु है आचार्य है विद्या देने वाला है और ये अनादि संबंध है और अनंत काल में भी रहेगा ईश्वर हमारा उपास्य है हम उसके उपासक हैं ये अनादि संबंध है और अनंत काल में भी रहेगा ईश्वर हमारा राजा है न्यायाधीश है और अनादि है और अनादि ये संबंध रहेगा ईश्वर सर्वव्यापक है हम हाँ व्याप्य है से और ये संबंध अनंत काल में भी रहेगा हाँ जी ये बातें तो है वो जानते भी है लेकिन सुनते हुए भी चित्त पर तो कोई भी असर नहीं पड़ता है इसका हाँ इसमें भी अंतर है किसी के अंदर कुछ पड़ेगा किसी के अंदर कम पड़ेगा किसी के अंदर अलग अर्थात आपने बताया वो भी स्थिति होती है हाँ। ऐसा नहीं लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है अपर उसका व्यवहार में अंग नहीं बनते हाँ।, हाँ अच्छा इसमें अलग अलग बात जानना जैसे अपना अपना अनुभव बताया ऐसा सबके हम्म, अंदर नहीं मानना चाहिए इनमें किसी में कितना पड़ता है किसी में कितना पड़ता है किसी में कितना ऐसा समझना चाहिए आप बता रहे ये भी एक स्तर है व्यक्ति का जो आप बता रहे इससे भी भिन्न भिन्न स्तर मिलेंगे दुनिया के हाँ जी ये कारण ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने कहा कि ईश्वर हमारी माता है ईश्वर हमारा पिता ऐसा समझ में तो आ रहा है पर चित्त के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसमें कारण एक चीज लगती है कि एक अभाव है कि ईश्वर हमारा पिता है ऐसा तो कह दिया परंतु वो पिता कैसे है इस चीज के ऊपर चिंतन करने से पता चलेगा कि नस्ती से वो पिता है ठीक है एक अंश एक अंश आपका ये है कि भाई इसके ऊपर पिता कैसे है उसका पूरी पूरी गवेषणा की जाए ना आपका मतलब है उससे प्रभाव पड़ सकता है एक अंश है वो एक है वो समझ में आया ना यदि पिता कैसे है पालन कैसे करता है यदि पता चल जाए तो प्रभाव पड़ेगा इनका कहने का ये दूसरा एक और भी है उसने विवेचन नहीं किया ये दूसरा बता रहा हूं आप बिल्कुल शब्द प्रमाण को वो शतपति से सत्य मानता है तब प्रभाव पड़ेगा ये दूसरा अंश है उसको समझ में नहीं आ रहा छानबीन से नहीं खोज की उसने शब्द प्रमाण को शतपति से मान लिया ज्यो का त्यों बिल्कुल ठीक है जो कहा जा रहा है तो प्रभाव पड़ेगा तीसरा अंश तीसरे अंश में सुने हुए का यदि प्रयोग करके देखा जाए प्रयोग व्यवहार में व्यवहार में यदि झलक आई अनुभूति हो जाए तो प्रभाव पड़ेगा जैसे व्यासवासी में आया आचार्य का उपदेश अनुमान और शास्त्र की तीनों बातें सत्य ही होती है और वो जब तक उनका कुछ प्रयोग न करके देखे तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती जितनी होनी चाहिए ईश्वर व्यापक है हाँ व्यवहार में कैसे क्या प्रयोग होगा मैं बताता हूँ ऐसे तो इसके अनेक प्रयोग है एक तो ये होगा कि हमें हाँ, जब व्यापक मान के चलेंगे तो हमारा जो संबंध है जैसे पिता के साथ हम बैठे हों ऐसा ईश्वर का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता रहेगा और जब जैसे पिता को भूल के बालक पिता पास में बैठा हो और पिता को जब भूलता है वो तो पिता के विपरीत काम ये कार्य करता है वो बालक जो पिताजी नहीं चाहते और जब पिता को ध्यान में देता है कि पिता मेरे साथ है और दंड देगा तो जब ऐसा बना रहेगा तो वो पाप से बचता रहेगा एक भाग है ये आचार्य जब यहाँ बैठा है बच्चा उसके साथ है वो जानता है ये ये काम करने में आचार्य प्रसन्न है ये करने में दंड देने तो बच्चा जो है ऐसे देखता रहेगा तो उस बुराई से बचता रहेगा अच्छे काम को करता रहेगा एक प्रभाव है उसका दूसरी बात दूसरी बात जब सूक्ष्मता में हम जाते हैं जब सर्वव्यापक ईश्वर निर्णय हो गया तो सर्वव्यापक ईश्वर ये भी पता चल जाए भाई आनंद स्वरूप है ये भी पता चल जाए कि इसकी उपासना से आनंद मिलता रहेगा तो वो सर्वव्यापक ईश्वर को छोड़ेगा क्या मानता रहेगा तो उसको आनंद मिलता रहेगा और नहीं मानेगा तो उपासना नहीं करेगा तो आनंद भी नहीं मिलेगा सर्वज्ञ मानता रहेगा तो उसको विद्या मिलती रहेगी वो छोड़ेगा नहीं ईश्वर का सानिध्य और वो जानता है मैं ईश्वर का सानिध्य छोड़ूंगा तो अविद्या आक्रमण करेगी तो सर्वव्यापक ईश्वर के मानने से वो व्यक्ति विद्या से बचता रहेगा विद्या उसको मिलती रहेगी और इसमें सर्वव्यापक मानने में अर्थात बहुत कुछ क्या क्या चीजें हैं पर्याप्त हैं जो सर्वव्यापक मानने से तो वो हमको उपयोगी दिखता है सर्वव्यापक मानना जैसे आपको मैं बताता हूं सर्वव्यापक मानने में ईश्वर का प्रत्येक करने में कठिनाई नहीं पड़ती सर्वव्यापक यदि समझ में नहीं आए तो ईश्वर का प्रत्येक करने में बहुत कठिनाई पड़ती है जैसे आपको बताता हूं उसको यह समझना पड़ेगा यहां पर कि एक जगह पर दोनों पदार्थ कैसे रहते हैं ये जानना पड़ेगा उसको एक स्थल पर दो पदार्थ कैसे रहते हैं स्वतंत्र दोनों की सत्ता है गुण क्रम स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है और एक ही जगह पर रहते हैं यदि ये समझ में आ जाता है ये तो ईश्वर साक्षात्कार करने समाधि लगाने में सुविधा हो जाती है यदि सर्वव्यापक समझ में नहीं आता तो ये उलझन दूर नहीं होगी समाधि वाली समाधि नहीं लग पाएगी देखते जाएं आप सोचते जाएं कब कब उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये प्रयोग से भी पता चलेगा आपको तर्क प्रमाण से भी चलेगा और प्रयोग करने से भी चलेगा दोनों स्थितियों पर पता चलता जाता है और व्यक्ति उससे स्वयं प्रभावित होता अपने आप को देखता है जैसे आप ये मान के चलिए सर्वज्ञ भी है सर्वव्यापक भी है न्यायकारी भी है तीनों को साथ जोड़िए आप क्या समझे आप सर्वज्ञ है सर्वज्ञ भी है सर्वत्र विद्यमान भी है और न्यायकारी भी है तो आप कोई भी धारा पाप की जो उभरेगी ऐसी मान्यता में वो उभर के आगे नहीं बढ़ पाएगी तत्काल रोक देंगे आप तत्काल आपको रोकना पड़ेगा ये तो ठीक है साहब पर पहले उसको सर्वव्यापक और न्यायकारी को सिद्ध कर लिया जाए तब तो ये बात आएगी हम इसी को कह रहे हैं सिद्ध करने के पीछे की बात है सिद्ध परमाणु से हो रहा है हो चुका है परमाणु से हम तो उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो प्रमाणों से अनुमान से शब्द से सिद्ध कर चुका है उसकी बात उसके अंदर जो संशय हो रह रहा हो कल्पना कर दीजिए संशय कुछ हो बचा हुआ उसको तो हटाना पड़ेगा व्यापकता को अनुभव करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक सत्यार प्रकाश में बताया उन्होंने बताया कि अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का होना असंभव तो हम सभी तो पढ़ रहे हैं उनको जो आप सुना रहे हैं आप भी पढ़ते हैं मैं भी पढ़ता हूँ पढ़ाते भी हैं और इसको टक्कर में जो चीज आती है इसी के उखाड़ने वाली परमाणु की सीमा में परमाणु की सीमा वो ये कहते हैं कि वो इतना शक्तिशाली है एक जगह रहता हुआ सारी दुनिया के काम करता है सब जगह रहने की आवश्यकता नहीं ये टकराव में आएगी परमाणु की दृष्टि से बोल रहे हैं आपस में जो तर्क वितर्क चलते हैं ना एक जगह मानने वाले जो हैं नहीं समझे आप वो इस रूप में इसको रखते हैं समझ में अच्छा जब दोनों का हमें संतुलन करेंगे परीक्षण करेंगे तब वो खंडित हो जाता है ऊन वाला पक्ष तब फिर बाधा नहीं आएगी ऊन वाला पक्ष एक जगह रहता हुआ भी सारे काम कर सकता है सर्वव्यापक रहने की आवश्यकता नहीं है ये जब खंडित हो जाएगा तब ये ये सिद्धांत काम करेगा आलम आप मान्य विद्वदगण उपस्थित सज्जनों निरीक्षण परीक्षण की शैली पद्धति से आपको मानव जीवन सफल बनाने की रीति पद्धति बताई जा रही है इस प्रकार का प्रशिक्षण वेदानुकूल ऋषियों की बताई बातों के अनुसार और उसके प्रयोग बार बार करके सर्वैत को दृष्टि में रख करके बिना किसी लौकिक इच्छा के ये परंपरा प्राय है शिकाई नहीं जाती इस रीति से इस पद्धति से वेद और ऋषि ग्रंथों के अनुरूप प्रयोग करना फिर प्रयोग में अनुभव किए हुए को बताना फिर उसमें बाधाएं क्या क्या आती है उनको जानना जनाना और लौकिक उद्देश्य प्रयोजनों से प्रभावित न होकर के दूर रह के बताना ये परंपरा प्राय लुप्त है व्यक्ति इस आत्मा परमात्मा की विद्या को योग विद्या को सूक्ष्म जीवन निर्माण को वो नहीं जानता नहीं समझता उसे वो दूर है आप भी बहुत कम ध्यान देते हैं इन बातों को जानने का जितना ध्यान देना चाहिए जितनी सावधानी बरतनी चाहिए जितने प्रयोग करने चाहिए उतने में से बहुत कम करते हैं बहुत कम सावधान है आप एक प्रयोग है कि हम ओम का जप करते हैं या गायत्री मंत्र का जप करते हैं एकाग्रता का संपादन करते हैं उस स्थिति में एक दूसरे व्यक्ति की भांति जीवात्मा अन्य विषय को उठा लेता है जैसे वह जीवात्मा एकाग्र चित्त करके ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहा है एक स्थिति बनाई उसने और वही जीवात्मा उस अपनी स्थिति को बिगाड़ने के लिए या जिसमें उसकी स्थिति बिगड़ती है वह दूसरे स्वतंत्र चेतन की भांति एक दूसरे विचार को उठा करके प्रारंभ कर देता है और वो उसकी स्थिति बिगड़ जाती है क्या समझ में आया नहीं आया तो बोलो नहीं आया नहीं आया है कैसे जैसे आया व्यक्ति अपने चित्त को एकाग्र करके ओम का जप कर रहा है और उसकी स्थिति अच्छी बन गई इस समय वो अपने अवान्तर विषय को उठा लेता है और वो न तो उसको ये बोध होता कि मैं दूसरे विषय को उठा रहा हूँ वो मैं ही हूँ और मेरी एकाग्रता बिगड़ जाएगी ये भी इसको ज्ञान नहीं होता उस बिगड़ी व्यवस्था को देखता है कि एक स्वतंत्र चेतन करता ने ये विचार उठाए हैं और वो कुछ बात कर रहा है किसी के साथ साधक जी क्या समझ में आया दूसरी जीवात्मा के विषय में कहा गया जी हम्म। ये समझ नहीं बैठा क्या क्या ये बात बताई कि तुझी प्रार्थना कर रहा है एकाग्रता बना करके हम्म। फिर वही अपनी स्थिति को बिगाड़ कर जैसे दूसरा जीवात्मा उसको कोई विषयांतर ले जा रहा हो या वो बात कर रहा हो ऐसे उसको दिखाई देता है जबकि वो स्वयं उठाने वाला है स्वयं दूसरे विषय को उठा दिया है और उसको पता भी नहीं होता कि मैंने दूसरे विषय को उठा दिया है मैं बिगाड़ रहा हूं उसको दूसरा व्यक्ति बिगाड़ता हुआ दिख रहा है उदाहरण का रूप लेंगे तो और स्पष्ट हो सकता है आपने अपने कमरे में झाड़ू देना आरंभ किया मैं अच्छी झाड़ू दू और एक और आपने असावधानी से पंखे का बटन दबा दिया और फिर देखते हैं वो धूली उड़ने लगी बाधा हुई पंखे से और वो व्यक्ति ये अनुभव करे ये कौन व्यक्ति है जिसने पंखे को चलाया है बहुत खराब है इसने क्यों बाधा डाल दी मेरे झाड़ू में ये स्थिति अब कुछ आया समझ में हाँ जी बोलिए जैसे कि झाड़ू देने लगे आप और आप समझते हैं कि बिना पंखे के झाड़ू दी जाएगी तो अच्छी झाड़ू लगेगी धूली नहीं उड़ेगी और स्वयं ही पंखे के बटन को दबाते हैं और आपको पता नहीं चलता मैंने पंखे को चला दिया है पंखा चलने लगता है तो आपकी झाड़ू में बाधा पड़ती है धूड़ी उड़ती है और आप ये देखते हैं कि ये कौन व्यक्ति इतना खराब है जिसने ये पंखे को चलाया और मेरे इस कार्य में बाधा खड़ी हो गई ये ध्यान की अवस्था अब आप इसका प्रयोग कर जान, करना जानते हैं या नहीं या आप ऐसा करते हैं या नहीं आपको ऐसा दिखाई देता है या नहीं ये मुझे पता है एक और उदाहरण देते हैं ये ये स्थूल था वो सूक्ष्म है एक व्यक्ति ने ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद इस स्थिति का संपादन किया और अधिकार पूर्वक वो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना और उसी व्यक्ति ने एक सुंदर रूप देखा था कभी उसी ने और उस सुंदर रूप को याद किया और सुंदर रूप याद होने पर सुंदर रूप की ओर आकर्षण हो गया और उसने देखा ये बहुत खराब व्यक्ति है इसने मेरी स्थिति बिगाड़ दी और उस सुंदर रूप को लाके खड़ा कर दिया अब मेरा मेरी जो रुचि थी वो सुंदर रूप में होगी ईश्वर की उपासना छूट रही है वो ये अनुभव करता है अब बताओ समझ में आया नहीं आया हम्म साधक जी आ समझ में तो कुछ बात कम गले उतर रही कि सुंदर रूप को देखा था और सुंदर रूप को भी ओम सचरण के बीच में ला करके खड़ा होकर दिया तो वो ये सोचे कि कोई दूसरा ले जाए ये बात तो दूसरा ले जा रहा है ये कह दो मन ला रहा है ये कह दो बात वो समझाने के लिए दूसरे की वो मन ही के द्वारा करता हुआ ये नहीं मानता जानता कि मैंने ये क्रिया की है कोई दूसरा व्यक्ति ने क्रिया कर दी है और वो ये कह दो मन ने क्रिया कर दी है यदि आपको अध्ययन में याद हो तो योग दर्शन में और योग के भाष्य में ये आपको ये विवरण मिलेंगे ऐसे ये जो मैं स्थिति सुना रहा और प्रयोग करना होता तो प्रयोग करके ऐसा देख सकते हैं ध्यान काल में अध्ययन में भी देख सकते हैं आप योग दर्शन के मूल को याद करने लगे यहां व्यवहार में देख लीजिए अथ योगानुशासन में योग वृत्ति निरोध तदादु स्वरूप अवस्थानम अब इसने पाठ आरम्भ किया और बिना जाने बिना कोई योजना एक व्यक्ति ने जैसे स्वतंत्र रूप उसने सुंदर रूप को देखा था वो राग रूप का उसके अंदर विद्यमान है व्यक्ति के अंदर द्वेष का भी उदाहरण बन सकता है वो विद्यमान है वो अधय योगानुशासन में एकाग्रता बनी हुई थी और उसने उठाया और उठा करके जो 20 वर्ष पहले पांच वर्ष पहले या कल परसों जो सुंदर रूप देखा था उसका जो राग था उसने उस राग को उत्पन्न कर दिया और राग में उसकी रुचि उत्पन्न हुई तो योग दर्शन का पाठ भूल गया या रुक गया प्रतीत हो रहा है कोई दूसरे व्यक्ति ने यह काम किया है क्या समझे आप ना इसने इसको रूप को याद करने की इच्छा की वजह से न इसने मन को प्रेरणा दी वजह से और न उस रूप को कभी देखे हुए कोई योजना बनाई हो कि मैं उसको याद करूं उस रूप को ऐसी योजना भी नहीं बनाई और एक दिखता है कि वो रूप याद आ गया आकर्षण हुआ तो योग दर्शन का पाठ या तो भूल गया या रुक गया पाठ भूल गया ये भी नहीं याद रहता हाँ ये भी नहीं रहता कई बार वो मैं पाठ भूल गया हूँ मेरा जो उद्देश्य था वो छुट गया वो भी नहीं रहता और राग में लपेट में आ जाए अधिक आकर्षण हो तो और इसी प्रकार वो उपासना में सच्चिदानंद को भूल के छोड़ करके यहाँ लग गया हूँ ये भी एक अवस्था जो बताई ये भी नहीं पता चला कि परमात्मा को छोड़ करके <laughs> रूप में लग गया हूं कई बार पता चलता है कई बार नहीं चलता पता कुछ देर में पता चलना फिर संभल करके फिर होश में आके फिर वहीं जमाना परिणाम एकत्वात वस्तु तत्व आगे क्या है नहीं पता आप मूल ही नहीं करते हो जो पढ़े लिखे मूल याद है आपको योग दर्शन का पाठ करते हो या नहीं करते हुँ? हम्म? याद लगभग है स्वामी हाँ जी पर आप नहीं करता हाँ जी याद करता हूँ परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्व आगे क्या है हैं क्या बोला वाह अब पाठ न करना न दोहराने का परिणाम है कि काला अंतर में सारा चौपट वस्तु सामने चित्त वेदात द्वयोर्विभक्त पंथा न च एक चित तंत्र वस्तु तद तद कम तदा किम सात यहाँ पर ये विवरण दिया इन बातों में कि यहाँ पर कितने लोग चित्त को ही आत्मा मानते हैं और चित्त ही सब कुछ है अलग से आत्म तत्व है ही नहीं इसमें पूरा सूत्रों में भाष्य में विस्तार से वर्णन किया और पहले पाद में कहा आया है ये ये प्रसंग बताओ कहाँ आया है एक तत्वाभ्यास आया है ना इसमें भी व्याख्या की है ना भाष्यकार ने या नहीं की इसमें यह तो की दूसरे में तत्प्रतिषेधार्थम है ना यहाँ पर प्रकरण है और इसी का खंडन करके दिखाया है एक प्रसंग है कि समझाने की दृष्टि से एक प्रसिद्ध व्यक्ति उस परंपरा में सामान्य प्रचारक उपदेशक व्यक्ति को एक व्यक्ति बुला के लाए तो बुला के लाए तो बातचीत होनी आरंभ हो गई उन्होंने अपनी मान्यता बताई ढंग बताया तो आत्मा को स्थिर नहीं मानते सब कुछ अक्षणिक है ये मानते हैं तो आप ये सुख दुख का अनुभव कौन करता है उसे ये पूछा गया तो आत्मा स्वतंत्र को चेतन पदार्थ आदि नहीं है आत्मा सुख दुख का अनुभव मन करता है उत्तर दिया तो मन करता है सुख दुख का अनुभव तो मन भी कोई स्थायी तत्व होगा या नहीं होगा मन नाम की चीज कहता वो भी स्थायी नहीं है तो हमने कहा ये मन से अतिरिक्त और क्या क्या मानते हैं आप उन्होंने कहा कि पृथ्वी जल अग्नि वायु इन चार तत्वों को हम मानते हैं चार तत्वों से ही फिर मन बना होगा उन्होंने कहा हाँ चार से अतिरिक्त तो तो हम जब नहीं मानते तो चार से ही मन बना है तो चार से जब मन बना है तो आप ये बताइए चारों तत्वों में किसी में कोई चेतन परमाणु नहीं है और ये मन अनुभव करता है जिसको आप आत्मा ने मान के मन मान रहे विशेष समझ में आ रहा नहीं तो जो मन अनुभव करता है तो ये तो चेतन हुआ और चार तत्वों को मानते उनमें चेतन कोई भी नहीं है तो उनका सरल स्वभाव था महात्मा बुद्ध के जाने माने प्रसिद्ध प्रचारक व्याख्या प्रख्यात व्यक्ति तो आप फिर ये अनुभव कैसे कर लेता है तो जड़ पदार्थों से बना है मन आप कहते चार से एक हम नहीं मानते तो उसने कहा कि इस विषय पर मैं विचार करूंगा उत्तर नहीं बना तो कम से कम मान लिया कि मैं इसका समाधान नहीं कर सकता इसके ऊपर मैं विचार करूंगा अब ये ये सारा विज्ञान इतने पढ़े लिखे इतने लेखक इतने विद्वान इस चक्कर में हैं तो आप देख लीजिए कितना संसार चक्कर में है अब वो तो इस चक्कर में है और आपको सारी रूपरेखा बता दी आप बताने पर भी चक्कर में है हाँ साधक जी <laughs> आपको सारा समझा दिया अच्छी प्रकार से बतला दिया और वो तो बिना जाने चक्कर में है और आप जानबूझ के चक्कर में अब वो दोषी अधिक है या आप दोषी अधिक है बताओ हम अधिक दोषी मन को चेतन अनुभव करना मानने में वो अधिक दोषी या आप आप अधिक दोषी हम अपने ज्ञान विज्ञान में विचारों में जिन सिद्धांतों को मानते हैं जो हमने निर्धारित किए हैं परीक्षा पूर्वक नियम मंतव्य उन्हीं में उन्हीं मान्यताओं में उन्हीं सिद्धांतों में हम उन से मान्यताओं से उल्टे विचार उठाते हैं और उल्टा विचार उठाने में हमको ये पता नहीं चलता कि हमने उल्टा विचार उठाया है वो विपरीत विचार हमारे ऊपर कुप्रभाव डालता है मान्य हुए सिद्धांतों में संशय पैदा कर देता है वो वो जो विचार व्यक्ति अपनी मान्यता जो बनाई थी उससे विपरीत इच्छा करता है अब कुछ कम समझ में आया साधक जी बोलिए अपने विचारों में जिस व्यक्ति ने कुछ सिद्धांत बनाए हैं उन सिद्धांतों में से ए, किसी सिद्धांत के विपरीत मान्यताएं बना करके और उसके विपरीत इच्छा करता है उनको पता भी नहीं चलता आरंभ में आर्य समाज के जैसे दस नियम है आर्य समाज के इक्यावन सिद्धांत है मूल रूप में हम उनको मान के चले ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है इसको ले लो सत्तात्मक पदार्थ है इसको ले लो अब वो इसी मान्यता के विपरीत इच्छा उठा लेता है अपने विचार और विचारों को उठा करके विपरीत इच्छा करता है और विपरीत अपने मन को लगा देता है और उसको कई बार पता भी नहीं चलता जब पर्याप्त परिवर्तन हो लेता है तब पता चलता एक दूसरा उदाहरण ले लो वो स्पष्ट होगा वेदमुनि जी नींद आ रही हो तो मुंह धो लेना हाँ सोने के समय सोया करो उपदेश और पाठ के समय सावधान होकर सुना करो ये अभ्यास उल्टा हो जाता है ऊंघना सोना ध्यान नहीं देना उसका वो उसके दिमाग में मूल्य नहीं होता उस विद्या का इसलिए नींद आती है उसको रुचि नहीं श्रद्धा नहीं इसलिए नींद आती है उसको कभी कभी व्यक्ति जो उसने ये नियम बनाया कि मैं आज जीवन ब्रह्मचारी रहूंगा ऐसा नियम बना के चला मंतव्य सिद्ध है उसका और असावधानी के कारण पहले की विचारधारा या पहले जन्म के इस जन्म के संस्कार विषय भोगों के वो उसने उभार लिए और उभार करके उन बातों को सोचने लगा जो उसके मन को विषय भोगों की ओर ले जाती है उन विचारों को सोचना आरंभ कर दिया उसने और उसको पता भी नहीं चला और ऐसा होते होते जब पर्याप्त स्थिति बिगड़ने लगी जब उसको पता चला तो क्या सोच रहा तुमने <laughs> तो उल्टा सोच लिया ये आया समझ में नहीं आया आप व्यवहार में इसको देख सकते हो पर्याप्त विपरीत स्थिति बन गई और नीचे के विचार और अधिक उभर गए तो कहेगा तू क्या सोचने लग गया क्या करने चला था क्या तुमने निर्णय किया था माँ जीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और ये करूंगा और तुमने तो विषय भोगों की योजना बना ली धीरे धीरे तो फिर पता चला तो वो सावधान हो गया सावधान हो गया तो वो संभाल के अपनी स्थिति को फिर सुधारता है ये गलत है ऐसा सोचना अच्छा नहीं है ये तो बहुत उल्टा सोचा तूने फिर अपनी स्थिति को वो सुधारना चाहे तो सुधार करके वहीं फिर ले आता है आप जब जब असावधान रहेंगे तब तब ऐसी उल्टी योजना बनती रहेंगी और आपका जीवन उससे अपवित्र खराब होता रहेगा पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म के संस्कार उस अवस्था में उभर के आ जाते हैं या जीवात्मा उभार लेता है और जैसे वो उभार लेता है तो योजनाएं इच्छाएं प्रयत्न वैसे ही चलने लगते हैं जैसे भोगवादियों के होते हैं और उसने जितना विवेक वैराग्य की ओर जो उभार किया था विकास किया था उस पर ऐसी चोट लगती है वो नीचे गिर जाता है योग दर्शन की भाषा में देखना हो तो वित्थान निरोध संस्कार और अभिभव प्रादुर्भाव निरोध अक्षर चित्तान्वय निरोध परिणाम है इसके ऊपर देख लो लागू करके मनुष्य जीवन का क्षेत्र कितना गंभीर है कितनी सूक्ष्मताएं हैं करोड़ों लोग तो इसको सोच भी नहीं सकते इन बातों को इनको जान भी नहीं सकते सुधार बिगाड़ क्या है इसका उनको कोई पता नहीं किंतु वो उल्टे विचारों को उल्टी मान्यताओं को उल्टे जीवन को ही सुधार समझते हैं उल्टे विचारों को उल्टे जीवन को आप भी बहुत अंश में अच्छा समझते हैं वो बहुत अधिक अंश में समझते हैं आप उनसे कम अंश में समझते हैं बातों को जानना इनको फिर मनन करके जीवन में उतारना और सतत संघर्ष करना एक प्रकार से व्यक्ति के लिए अत्यंत कष्टप्रद है अत्यंत कष्टप्रद हो ये तो ठीक है पर ये सारा मंथन और इसको क्रिया रूप में देने के लिए कष्टों को सहना ये उसके लिए सारे दुखों से छुड़ाने का नित्यानंद की प्राप्ति का कारण बनेगा जो इस दुख से डरता है वो समस्त दुखों की निवृत्ति नित्यानंद की प्राप्ति नहीं कर सकता उसका अध्ययन आप करेंगे वहां पर करेंगे वृश्चिक विषय ने भीतर एवं विषय न दष्ट कहाँ पर है ये वर्णन भाष्य में हम्म? इसके साथ जोड़ के देख रहे हो ना जो वृश्चिक विषय ने भीतर इव ये जो दबाव है आक्रमण है विषयों का विषयों से लड़ना है काम करो दबाते हैं व्यक्ति को ये बिच्छू का डर जैसा है इतना तप इतनी त्याग इतना संघर्ष इंद्रियों को रोकना विषय भोगों से ये दबाव उसके ऊपर भी का डर है क्या समझे आप नहीं आ समझ में इस बिच्छू के डर से डरा हुआ व्यक्ति कहता मैं मैं इससे कैसे बचू इतना दबाव है इंद्रियों का मन का इतना दबाव है भोग भोगो कैसे रोकू ये तो बड़ी कठिनाई है वो बिच्छू के दृश्य डरता काले सर्प से काटा जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है तो बिच्छू के डर को सहो और आगे बढ़ो और बिच्छू के डर को न सहो तो काले सांप से काटे जाओ और मृत्यु को प्राप्त हो जाओ ये देख लो आप नहीं समझ पाए तो बोलिए आपको समझ में आ रहा है आया कुछ है इनका नाम तो मोदी है ना मोदी जी है ना स्वामी जी जब व्यक्ति को यह पता लग जाए कि जो बिच्छू का डंक है इसको समाप्त भी किया जा सकता है इसकी हम्म। औषधि भी है हम्म। किंतु काले सर को अगर डस ले तो इसकी और औषधि नहीं है जब ये पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तब तो व्यक्ति उससे दूर हो सकता है पूर्ण ज्ञान होगा उसके संघर्ष से वो युद्ध करना अनिवार्य होगा नहीं तो पूर्ण ज्ञान हो ही नहीं सकता युद्ध को न करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहे कोई यह संभव बात नहीं है समझ में आया कोई ये चाहे कि मैं ये संघर्ष न करूं ये कष्ट न सहूं इतना युद्ध न करूं इतना तप त्याग न करूं और